आदि कलाओं का कारण है जो कारण है वो कार्य में कैसे रहेगा भाई कार्य कारण में रहेगा कि कारण कार्य में रहेगा उल्टा कहीं कहीं देखा गया कार्य कारण में आता है ये बात तो सही है लेकिन कार्य में कारण चला जाए ऐसा नहीं इसलिए कहते प्राणादि कलाओं का कारण है पुरुष वो कारणभूता पुरुष कार्यभूत कला कलाओं से निष्पन्न शरीर उस शरीर के अंदर कैसे हो सकता है नहीं हो सकता नहीं शरीर मात्र परिच्छन से प्राण श्रद्धाजरंकलांकारणत्म प्रतिबत्तम शक्न कि शरीर मात्र में परिचिन होकर रहने वाला जो आत्मा है वह आत्मा प्राण श्रुद्ध आदि कलाओं का कारण प्रतिपादन करना संभव नहीं है कला कार्य तच्च शरीर से और कलाओं का कार्य शरीर कलाओं का कार्य शरीर इसलिए आत्मा का कार्य कला कला का कार्य शरीर उस शरीर में फिर वापस हो पुरुष आ गया आत्मा आ गया ज्ञान आ गया ये कहना तो उचित नहीं लेकिन आपकी श्रुति कह रही है इसलिए मानना पड़ेगा नहीं पुरुष कार्याणाम कारण कार्य शरीरम कारण कारण स्वस्थ पुरुषम कुंडम भद्रम युव आभ्यंतरी कुरियात क्योंकि जो है पुरुष का कार्य कलाएं और कलाम का कार्य है जो शरीर ऐसा शरीर में कारण का भी जो कर शरीर का कारण कौन कला कला का कारण पुरुष उस कारण का भी कारण जो पुरुष है वो स्वस्य उस स्व के भीतर कैसे रहेगा अर्थात शरीर के भीतर कैसे होगा कुंड में बदर के समान आभ्यंतरी न कोया कुंड में जैसे बदर रह गए हो वैसा शरीर के अंदर पुरुष नहीं हो सकता क्योंकि वह बदर जो है कुंड का कारण नहीं था यहाँ तो कार्य का अनुभव है इसलिए उल्टा कार्य में कारण नहीं जा सकता है इसलिए दृष्टान्त अत्यंत विषमता है तो वो कहता है महाराज हमारे पास और दूसरे दृष्टान्त है ना बीजाधिवत चिन्ह बीजादि समान दृष्टान देना आम्र वृक्ष है गुटली से कारण है वही गुटली उससे पेड़ पैदा हुआ कार्य उस पेड़ का कार्य फिर फल लग गया उस फल के भीतर हो गया पुरुष कार्य कला कला का कार्य शरीर उस शरीर के भीतर है पुरुष तो आराम से घट जाएगा यदा बीज कार्य रक्षा तत्कालीन फलम स्व कारण कारण बीजम आभ्यंतरिक करो दे आम्रादि जैसे बीज का कार्य क्या वृक्ष है उसका कार्य कौन फल उस फल में उस फल का कारण वृक्ष का भी कारण कौन बीज है वो बीज उसके अंदर है या नहीं स्व कारण कारणम बीजम वो कहा है अभ्यंतरी करो दे वो अपने भीतर बनाए रखा हुआ है वो दृष्टान आम्रादि तद पुरुषम अभ्यंतरी क्रिया शरीरम स्व कारण कारणम इसी प्रकार शरीर भी अपने कारण का भी जो कारण होता पुरुष को स्व के भीतर कर लेता है क्या आपत्ति है यदि चिन्ह ऐसा नहीं कह सकते आप अन्यता सावयता कहते हैं वही कहा आया अरे जो गुटली वृक्ष बना वही गुटली आ गया क्या वो एक था वो कैसे अनेक फलों में आ जाएगा अनेक बन करके वो अन्य है जो फल में दिखाई दे रहा हुआ गुटली और जो कारण कारण होता तो स्व कारण होता जो गुटली दोनों ही भिन्न है एक बात दूसरी बात सावयों में संभावना भी है अभी भी कह सकते ना वो एक गुटली एक ही कवय जो कि कण कण पड़ा वृक्ष हो गए वही कण कण ही क्या हुए फल हुए वही कण फिर उधर सावय में फिर भी बन सकता है तो सोचा भी जा सकता है चलो ये उसमें नहीं गया लेकिन इसके अवयव ही इधर विस्तार को प्राप्त कर गए अनंत अवय रूप धारण कर गया एक ओम बोश्याम प्रजा जैसे वह एक कुटली अनंत अवय रूप धारण कर लिया ये तब संभव है जो सावयो माया सावयो है इसलिए वो तो एक बहुश्याम प्रत्यय संकल्प कर सकती है वह एक माया अनंत माया धारण कर लेती है अनंत कार रूप में परिणत हो जाती है विभक्त होकर दिखाई दे सकती है लेकिन आपका पुरुष में ये नहीं हो सकता लोग कहते ना एक बहुश्याम प्रत्यय पुरुष में घटा देते नहीं नहीं और माया वचन चैतन्य की बात है कि शुद्ध ब्रह्म है न संकल्प है न इच्छा है न ज्ञान है न क्रिया है न कुछ नहीं वो तो ज्ञान स्वरूप ही है ना प्राण राय बंधक टपक जाएगा वहां कुछ नहीं तो इसलिए जो है ये सारी बातें जो है मायावचिन चेतन को लेकर के होता है जितने तदैक्ष है ना जितने भी तरह के मंत्र है सारे सारे लेकिन तो शुद्ध ब्रह्म में लेकर सारे लोग सभी के सभी व्यवस्था करने वाले व्याख्याकार लोग कथाकार लोग विद्वान लोग भी कई लोग भ्रांति में पड़ जाते हैं तो इसलिए कहते हैं कि वह ऐसा नहीं क्यों दो हेतु दिया अन्यथा सावयवत्ताच दृष्टान्ति कारण वृक्ष फल समृद्ध समृद्धा अन्या बीजा दृष्टान्त आपने जो दिया जो कारणभूता बीज है ना जो कारणभूता बीज था कुटली था उससे बीजा वृक्ष फल संवृत्तानी अन्या बीजा उस वृक्ष के फल में छिपा हुआ जो बीज है वो वृक्ष का कारणीभूत तो बीज से भिन्न नहीं है दार्टान्तिक है तो दार्टान्तिक में ऐसा नहीं जो कारणभूता तो पुरुष था वही शरीरस्थ पुरुष है भिन्न नहीं है जो कारणभूता तो गुटली और कार्यभूता फलस्थ गुटली दोनों ही भिन्न है लेकिन यहाँ कारणभूता जो पुरुष और शरीरस्थ जो पुरुष दोनों अभिन्न है इसलिए दृष्टान दृष्टान्त विषम हो गया दृष्टान स्व कारण भूत स्वयं पुरुष शरीर अभ्यंतरीकृत श्रुत जो स्व मने शरीर उसे कारण कला उसका भी कारण पुरुष जो कहा गया वही पुरुष को शरीर के भीतर में भी है ये कहा गया है इसलिए यहाँ तो अभिन्नता है और वह भिन्न है इसे दृष्टान बनता नहीं और दूसरी बात बीज वृक्षाधिराम सामवाच्य पुरुष कला शरीर बीज वृक्षादियों के अंदर सावय होने के नाते उन अवयवों के माध्यम से आप घटा भी दे सकते हो वही बीज अपने अवय विभागों के माध्यम से एकाद वह बीज धारण कर गया ऐसा पिता जो है उसका एक अवय पूता वीर का एक बुंद पुत्र रूप धारण कर लेता है और उस पुत्र को पिता का अभिन्न स्वरूप माना गया सभी शास्त्रकारों के द्वारा कहा गया है उस प्रकार सावय वस्तु में तो संभव है लेकिन निरवय वस्तु पुरुष यानी यहाँ जो पुरुष है वो निरवय है और आश्चर्य की बात है कार्यभूता कलाएं और शरीर सावय ये कैसा हो गया कारण निरवय कार्य सावय यदि अंतर न हो तो कार्य क्या रह जाएगा कार्य उसी का नाम है ना जो किंचित फर्क हो नहीं तो कारण ही हो अरे दूध दूध है अब उसका यदि कोई कार्य है बोलोगे तो कोई फर्क तो होना चाहिए उसमें अब फर्क ही ना हो और कहो वो कारण रूपा दूध था कल रात्रि जो था ये कार्य रूपा दूध है अरे ही कैसा हो गया अरे कुछ उसमें चीनी डालो ना चावल डालो खीर बना अरे कुछ तो बनाओ उसको घोटो घाटो कुछ तो करो तब तो माना ये कार्य हो गया नहीं तो कारण ही है कारण था कारण ही है वो अरे कार्य उसी का नाम है जो कारण के स्वरूप जो अवय विन्यास है संस्थान विशेष स्वरूप है उसके अपना उस संस्थान विशेष स्वरूप में अंतर करो तब उसका नाम कार्य होगा कई गुणतः कई क्रियातः कहा स्वरूपतः चाहे अवय जैसा भी हो अनेक प्रकार है कार्य निष्पादन करने का कुछ तो करना पड़ेगा अंतर होना ही है तभी उसका नाम कार्य है इसलिए यहाँ कहते हैं इसलिए जो निरवय पुरुष है कार्य बुधा कड़ा क्या हुए वो निरवय नहीं रह गए वो सावय हो गए कैसे हो गए बात अलग चीज है निरवय का नहीं क्योंकि की जो कारण हम कहा रहे हैं अधिष्ठान रूप कारण है ना वो तो कारण है ही नहीं बात अपूर्वम माना परम मंत्र में क्या कहा गया अपूर्वम अपूर्व मने अकारण रूपम अनपरम अपरम न भवती अर्थात कार्यम न भवती न कार्य हो न कारण है वो वास्तविक पारमार्थ आत्मा का स्वरूप क्या है कार्य कारण भाव रहित न उसमें कार्य न उसमें कारण लेकिन दृश्य परिदृश्यमान जगत दृष्टि से एक कोई अधिष्ठान तो चाहिए ना इस कल्पना का उस अधिष्ठान रूप कारण कहा जा रहा है जैसे चक्र कारण है या नहीं न्यायिक लोग भी चक्र को घटोत्पत्ति के प्रति कारण मानते कि नहीं मानते लेकिन चक्र का कौन सा गुण आ गया घट में कुणाल को भी कारण मान ऐसे ये भी अभिनिमित्तोपालन कारण इसलिए वेदांत में कहा गया है तो वास्तव में उपादान का अंत माया है हाँ, इसलिए माया का खराब होने में आ रहा है माया सवय है कार्य के सवय हो गए माया का कोई उपादान कारण है नहीं जो परिकल्पित है ना उसका कोई उपादान कारण नहीं है और कोई कार्य भी नहीं है वो इसको साय के लोग मूल प्रकृति कह देते हैं स्वतंत्र मानते इत्यादि इत्यादि और हम लोग उसको मिथ्या करते हम लोग इसको प्रकृति शब्द से कहा है प्रकृति कहा उसको और उसका दो भाग कर दिया माया और अविद्या माया समष्टि के लिए अविद्या वृष्टि के लिए ऐसी व्यवस्था दी गई है इसलिए यह माया जो मिथ्याभूत माया हो अनिर्वचनीय माया है वह उपादान कारण है अनियमित कारण अधिष्ठान केवल उत्पादकत्व नहीं कल्पना का अधिष्ठान हम ब्रह्म को कारणत्व कथन करते हैं अतः वास्तविक कारण तो उसके अंदर अन्यत्र जन्मित कारण होते हैं जगत में वो कुछ करते हैं कर्तृत्व आदि को लेकर के उनके अंदर कारणत्व आ जाता है या कारगत्व को लेकर कर्तृत्व आदि कारगत्व को लेकर के ही कारणत्व आता है लेकिन ब्रह्म में किसी भी प्रकार के कारकत्व के बिना ही कारणत्व का आरोप पात्र है परिकल्पना का अधिष्ठान हम उसको सप्तमी का, का सप्तमी कारकत्व का आरोप कर लेते हैं उस आरोपित कारण को लेकर क्या व्यवहार हो रहा है स्वकार का कारण शब्द इसको कह रहे इसलिए देखिए सावयवश्चला ये न आकाश से भी शरीराधारतम अनुपन्नम आगे इसी वजह से हम आकाश को भी शरीर का आधार करके नहीं मान सकते वास्तव में क्या है उसमें आधारत्व भी नहीं है अर्थात शरीर जो है आकाश के प्रति आधार नहीं बना आकाश का आधार शरीर नहीं हो सकता क्यों शरीर का आधार आकाश है उल्टा शरीर कहा रह रहा है आकाश में रह रहा है आकाश शरीर में नहीं रहता है शरीर आकाश में रहता है जब यह शरीर आकाश का भी आधार नहीं हो सका तो आकाश का भी कारण होता तो आत्मा का आधार कैसे हो जाएगा हो नहीं सकता है परिच्छेद परिच्छेद भाव से यद्यपि आकाश आधार है किसका घट का एवरी घट भी आकाश का आधार घटाकाश अपना व्यवहार करते हो घटाकाश कहाँ है घट में और कहा रहेगा घटाकाश कहाँ है घट में है ना घट का तो आधार हो गया आकाश का एक कौन से आकाश का आधार हुआ घटाकाश का हुआ कैसे हुआ परिच्छेदक रूपेण सावय रूप से कुंड आधार अदेव आकाश और घट का बीच में भी नहीं हो सकता क्योंकि आकाश अद्यपि क्या है सावय वस्तु नहीं है अतः उसको वह किसी के आधार में रहने योग्य है ही नहीं मूर्त पदार्थ जो होते हैं सावय पदार्थ जो होते हैं किसी न किसी आधार में रह सकते हैं अतः आकाश किसी में रह नहीं सकता लेकिन घटाकाश घट गट में रहा जो व्यवहार है वह भ्रांति है और उपाधि की है वास्तविक दृष्टिकोण से भ्रांति और व्यवहार दृष्टिकोण से कहोगे उपाधि घट रूपी उपाधि से परिच्छिद्यमान आकाश का प्रति घट को अपने आधार मान लिया परिच्छेद को स्व से परिच्छिन्न वस्तु का आधार मान लेते हैं ये व्यवहार भ्रांति है लेकिन व्यवहार में वो सब इसी प्रकार यहां भी हमें करना पड़ेगा इतनी शरीर में आत्मा नहीं हो सकता भ्रांति है लेकिन औपाय की आत्मा मानना चाहो शरीरावचिन्न आत्मा है कहोगे शरीर में तो हमें कोई आपत्ति केवल आत्मा है कहो शरीर में तो असंभव है यदि आत्मा शरीर में रहता है ऐसे कहते हो भ्रांति यदि शरणावचिन्न आत्मा शरीर में रहता है कह रहे हो तो कोई आपत्ति जैसे घटाकाश घट में रहता है वैसे रहने और औपाधि की हुई ना तो औपाधि की वस्तु का आधार अधेवा मानने में कोई हमें दोष नहीं आरोप नहीं आरोपित हूं करो इसलिए कहते हैं यहाँ भाषिकार एते न इसी से यह ज्ञापन हो गया कि आकाश से आधारतम अनुपन्नम आकाश के प्रति भी शरीर में आधारत्व जब अनुपन्न है क्यों तो आकाश कारण आकाश का भी काम था पुरुष के प्रति शरीर में आधारत्व कैसे हो सकता है नहीं हो सकता है तस्मात असमानव दृष्टान्त इसलिए कुंड जी यह अमृक्षा दृष्टान्त है वो समान दृष्टान्त नहीं पूर्व पक्षी कहता अरे दृष्टान्त छोड़ो मैं कह रहा हूं ना मान लो कोई व्यक्ति प्रमाण है कहते हैं किम दृष्टान देना क्या अरे श्रुति कह रही है मैं क्या मतलब यार पूर्व कहता है श्रुति कह रही है ना अंत शरीर अरे श्रुति को भी तुम काट दोगे श्रुति में स्पष्ट ही अंत शरीर में आया कि नहीं आया आधार तो ज्ञापन हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो इस वचन सामर्थ्य मान ली केवल अच्छा दृष्टान से सिद्ध नहीं कर सकता अर्थात अनुमान से मैं सिद्ध नहीं कर सकता तर्क से सिद्ध नहीं कर सकता युक्ति से सिद्ध नहीं होता किंतु वचन सामर्थ्य तो मान लेना पड़ेगा वचन क्या है ये श्रुति ही वचन है श्री पुरुष यदि चिन्ह वचन से कारकत्व कहीं वचन कारक नहीं होता शब्द कोई असंभव चीज को बना नहीं देता नहीं तो वंजा पुत्र भी पैदा हो जाता क्यों वचन सामर्थ्य अरे हमने कहा ना बोल दिए बंध्या पुत्र होता है ऐसा कहा देने में वैसे बंध्या पुत्र हो जाएगा आप पहले कोई तारीख भी निश्चय कर दीजिए समय निश्चय कर दीजिए जन्म कुंडली बना लीजिए और सुपर नाम लिखे दीजिए पुत्र से एम कुंडली ऐसे लिख देने से तो हो जाएगा क्या अरे वचन जो शब्द कहा कहीं होता वो केवल ज्ञापक होता है ये नहीं वचन यदि कारक होता तो ब्रह्मचारी लोग रोज न सवेरे दोपहर शाम समझा करते क्यों वेद आपसे करा देता ना हर हर संध्या उपासित ये वेद मंत्र नहीं है क्या ये शब्द आपके खोपट पर डंडा के रूप में खड़े होकर के करा देता क्यों नहीं करा रहा ये मंत्र क्योंकि आप मन के मर्जी के मालिक वेद कुछ करा नहीं सकता शब्द करा नहीं सकता है कारक नहीं हो सुन के भी इसे कोई लाभ होता नहीं नहीं तो एक बार आवेदन वेदन स्वयं घर में बैठ के ऊपर मंत्र पढ़ लेते तो ब्रह्म ज्ञानी हो जाती आने की जरूरत क्या थी यदि शब्द ही आपको अनुभूति करा देता कोई कार्य करा सकता फिर ये शब्द हमको अनुभूति करा देता यहाँ क्यों आती बेकार की जो संन्यास की और लपड़े पड़े हुए हैं इसलिए कहते हैं भाषाकार शब्द तो कभी कारक होता नहीं इसे शब्द ने कह दिया अंत शरीर इतने मत शरीर में आत्मा के रह जाएगा ऐसा नहीं हो ये ज्ञापक है तो आपको समझना पड़ेगा इस शब्दों का तात्पर्य क्या है ये कौन से तत्व को ज्ञापन करा रहे हैं क्या बात को बोध कराने के लिए ऐसे शब्द प्रयोग हुआ है ये आपको समझना इसे कहते हैं वचन से अकार नहीं वचनम वस्तुनो अन्यथा करण है कहते हैं वचनम वस्तुनो वचनम अन्यथा करण नहीं व्याप्रियत है वस्तुना अन्यथा करणे कोई भी शब्द है वह शब्द वस्तु को अन्यथाकरण करने में किसी प्रकार का व्यापार व्यवहार नहीं कर सकते यदि कोई आपको कह दे ये झूठा है तो उसे कहने मात्र से आप झूठे नहीं होते आप में अंतर नहीं आएगा यदि आप वास्तव में झूठे और किसने आपको झूठा कहा और आपके दिल में लग जाए तब आपके अंदर भी परिवर्तन आ जाएगा जो वस्तु यथार्थ है उसको ही ज्ञापन करता है अयथार्थ में ज्ञापन करा शब्द की विचित्रता है इदम रजतम वाक्य वही है शुक्ति में देखा तब इदम रजतम रजत में रजत को देखा तब इदम रजतम ही तो बोलो कुछ और बोलोगे शब्द तो वही है लेकिन उसे ज्ञापित वस्तु जो रजत है वह मिथ्या भी हो सकता है सत्य भी हो सकता है इसलिए शब्द वस्तु का न क्योंकि आपने एकदम रजतम कह दिया इसलिए शुक्ति कभी रजत हो जाएगा क्या लोहा पद कर ये सोना है कह दूंगा सब सोना हो जाए अरे गरीबी ना रह जाए दुनिया में फिर सब पत्थर को उठाऊंगा ये हीरा है बोल तो हीरा हो जाए वो फिर गरीबी कहा रहेगी दुनिया में कोई काम भी नहीं करेगी इसे शब्द किसी वस्तु के स्वरूप का निथाकरण करने में कोई भी व्यवहार या व्यापार नहीं कर सकता इसे कहते वस्तु न अन्यथा करने वचनम नहीं व्याप्त किंतरी यथा भूतार्थ अवद्योतने फिर करता क्या है शब्द जिस वस्तु को जैसा आपने देखा यथाभूत अर्थ को केवल अवद्योधन करता है प्रकाशन करता है ज्ञापन करता है तस्मात अंत शरीर वचनम अंड अंतर व्योम द्रष्टव्य आ गया ना वही बात औपाधिक मानना पड़ेगा अंत शरीर ये जो बात है ना वचन किस बात ज्ञापन कर रहा है जिस प्रकार से अंडे के भीतर आकाश घट के भीतर आकाश उपलब्धि निमित्त और हेतु उपलब्धि निमित्त उपलब्धि का निमित्त से भी कह सकते हैं कहते हैं कि तस्माद अंतरितवचनम अंधस्य अंतर्व्योम यदिवत च द्रष्टव्य इसलिए जैसे घट के अंदर आकाश से व्यवहार हो जाता उसी प्रकार से शरीर के भीतर पुरुष का व्यवहार मात्रा उपाधि की है तो मानना पड़ेगा उपलब्धि तत्व दर्शन श्रवण मन विज्ञान आदि लिंग ही अंतरण परिचिन्न इव ही उपलब्ध उपलब्धि निमित्त एक और हेतु दे दिए इस हेतु की व्याख्या करते हैं कि दर्शन श्रवण मनन विज्ञान आदि जो हम लोगों को उपलब्ध हो रहा है उनसे यह ज्ञापन होता है कि शरीर के भीतर परिचिन हुए के समान इस पुरुष का अनुभव हो रहा है पुरुष उपलब्ध है और ऐसे ही पुरुष अनुभव हो ही रहा है अतः उच्च दे इसलिए कहा गया अंत शरीर सौम्य थी इसलिए कहा जा रहा है ऐसा पुरुष अंत शरीर है शरीर के भीतर है न पूरे आकाश कारण संकुंड भद्रवत शरीर परिचिन्न मनसा इच्छति वक्तम मूढ़ोपी किम होता प्रमाण भूता श्रुत जो आकाश का भी कारण है उसको शरीर के भीतर है ऐसा श्रुति तो कभी कह नहीं सकती है कुंड में जैसा बदर हुआ करता है उस प्रकार से पुरुष भी शरीर में है ऐसा कभी श्रुति कह नहीं सकती क्योंकि जो आकाश का भी कारण है वह किसी आकाश का कार्यभूता शरीर आदियों में नहीं रह सकता मनसा भी कहते हैं कि मन के द्वारा भी शरीर से परिच्छिन्न है ऐसे जब मूड भी नहीं कह सकता है तो प्रमाण बोध श्रुति कैसे तो कह सकता क्योंकि वास्तव में आत्मा अपरिचिन व्यापक वह मनारियों के द्वारा परिचिन नहीं हो सकता तो शरीर से कैसे परिचिन हो जाए सूक्ष्म वस्तु भी उसको जब परीक्षण नहीं कर सकता है तो स्थूल वस्तु कैसे परीक्षण कर देगा या नहीं इसलिए उस अपरिचिन वस्तु को परिचिन जैसे जो अनुभव होता है वह अनुभव को लेकर घटाकाश के समान औपाधि के अनुभव को लेकर के कहा गया है शरांत है पुरुष ये जो शब्द प्रयोग हो गया अंत शरीर सौम्य से पुरुष औपाधिक ही मानना उचित है वास्तविक करके प्रमाण श्रुति कभी कह नहीं सकती इस प्रकार से विचार को पूरा कर दिया है कि लौकिक जो भ्रांति है उससे सिद्ध परिच्छिता को अनुवाद मात्र श्रुति कह रही है यथार्थ और ले जाने के लिए श्रुति लोक सिद्ध को अनुवाद करके भी कहा करती है वेद के स्वभाव है जहां पर आप हैं वहीं से शुरू कर देगा आप अज्ञान में भ्रांति में है आप यही अनुभव कर रहे हैं इस शरीर के अंदर आत्मा है मेरे हृदय में आत्मा है और इस शरीर से आत्मा चला गया जब मर जाते तो क्या बोलते हैं आप उसका आत्मा चला गया हम क्या कर रहे हैं वो गई हुई आत्मा को शांति मिले उसके लिए हम पूजा पाठ करते हैं नहीं और आत्मा को शांति मिलेगा क्या दिन लोक व्यवहार यही है तड़प रहा होगा भूखा प्यासा होगा हम श्राद्ध नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा उसका तो ये मान के चल रहे हैं शरीर के अंदर एक आत्मा है और वो आत्मा यहाँ से परलोक में गया हुआ है और जब तक श्राद्ध आदि नहीं करे तो भूत प्रेत बन के घूमता रहेगा ये सब लोक व्यवहार है ना भ्रांति पूर्वक शरीर में विद्यमान एक परिचिन्न स्वरूप आत्मा को जो दुनिया मान रही है उसी को अनिवार्य करके श्रुति कह दिया अंक शरीर है सौम्य है क्यों कहा इसलिए कि वहां से ही आपको शुरू किया जाए हम पदार्थ जो यही है ना यही से ले जा करके आपको तत्पदार्थ का अनुभव कराना है तो परिचिन्न सा अनुभव जो हो रहा है परिचिन्न इव जो अनुभव हो रहा है क्यों हुआ इसमें नेता सोलह कला प्रबंधी इसी को पहले कर दिया जिसमें ये सोलह कलाएं उत्पन्न होता हुआ अनुभव होते हैं पुरुष विशेषणार्थ पुरुष को ही विशेषित करने के लिए शब्द पहले कहा गया था अब कलाम प्रभु सच अन्यार्थ उसका प्रयोजन ये बताने में नहीं है कि जगत उत्पन्न हुआ है और जगत सत्य है ये सब कथन करने के लिए नहीं है अन्य वह भ्रांति के कारण से अनुभव होता हुआ इस परिचिन्न जगत के उत्पत्ति की जो कथा है कलाओं की जो उत्पत्ति की कथा है वो किस लिए है सच अन्य अर्थ हो वो अन्य प्रयोजन अपवाद करने के लिए ये सारा अध्यारोप किस लिए है अपवाद करने के लिए है जब तक अध्यारोप को नहीं समझेंगे उसका अपवाद करके स्वरूप का अनुभव नहीं कर सकते सुक्ति में जो रजत का अध्यारोप हुआ है जब तक ये आपको मालूम ना हो यह अध्यारोप है तो उसका अपवाद करके शुक्ति का अनुभव आप नहीं कर सकते यदि आप अध्यारोप को ही सत्य मान के बैठोगे अध्यारोप को ही सत्य मान के बैठेंगे तो अधिष्ठान बुता जो वास्तविक है पारमार्थिक उसका ज्ञान इसीलिए कर अन्यार्थो असी यद्यपि है अपवाद करने के लिए ही है फिर भी श्रुता के न क्रमण फिर भी हर हाँ, श्रुति ने उस बात को कह दिया षोडश कला प्रभुवंती किस क्रम से उत्पन्न होते हैं सोलह कलाएं अध्यारोप की प्रक्रिया को समझना पड़ेगा ना किस क्रम से सारा काम हुआ है हम भ्रांति में पढ़ गए तो भ्रांति में क्यों पढ़े कैसे पढ़े ये भी तो जानना जरूरी तभी तो उनको अलग करेंगे एक करके क्रमशः जिस क्रम से उत्पन्न हुआ है उसके विपरीत क्रम से लय करना है इसलिए हमें उस क्रम को भी जानना जरूरी है रात्र आकाश बंद आकाश आदवायु वायु और अग्नि क्यों कहना पड़ा इसलिए उसको लय करने में आपको सुविधा होगा ये पूजा पाठ तो है नहीं कि उल्टा पुलटा क्रम कर दो जो बच गया तो बाद में डाल दो भगवान के ऊपर छुट्टी हो गया ऐसा थोड़ा चलेगा लय क्रम में तो यू नहीं होगा इसलिए उत्पत्ति क्रम को जानना जरूरी है ताकि विपरीत क्रम से आप उसको लय करेंगे अपवाद कर देंगे और स्वरूपानुभूति कर सकेंगे इसीलिए केल क्रमेण सियादम उच्चते उसी के लिए आरंभ होता है स ईशा चक्रे कस्मिन वह उत्क्रांत उत्क्रांत भविष्यामी कस्मिन वह प्रतिष्ठित प्रतिष्ठा उस षोड़श कला वाला पुरुष ने जो परिचिन है उसी पुरुष को पूछ रहा है क्योंकि हर बार क्या लोकानुवाद करके करके विचार चल रहा है जो इस शरीर के अंदर पुरुष है वह पुरुष है ईशान चक्र सब पुरुष ईशान चक्र है शुद्ध भ्रम की बात नहीं है षोड़श कला वाला जो पुरुष जो इस शरीर के भीतर में है जो परिचिन्न समस्त भ्रांत पुरुषों का अनुभव हो रहा है वह पुरुष ने विचार किया ईशान चक्र मैंने विचार किया क्या विचार किया कि भाई कस्मिन अहम उत्क्रांत उत्क्रांतो भविष्यामी किस विशेष कर्ता भोक्ता के उत्क्रमण करने पर मैं भी शरीर से उत्क्रमण कर जाऊंगा और ऐसा कौन सा कर्ता भोक्ता है जिसके शरीर में प्रतिष्ठित होने पर कस्मिन प्रतिष्ठित है प्रतिष्ठा श्यामी किसके शरीर में प्रतिष्ठित होने पर मैं भी शरीर के भीतर प्रतिष्ठित रहा करूंगा वह कौन सा तत्व है पहचानने के लिए उसने विचार किया शीतल पुल्ली का सृजतेमर्तम च पुरुष षोड़श कला पृष्ठ कि षोड़श कला वाला पुरुष के बारे में जब भारद्वाज ने प्रश्न पूछा था वह इसलिए ही पूछा है कि यह सिद्ध करने की चेतन पूर्वी का ही सृष्टि होती है रसायन मतों का खंडन करने के लिए प्रश्न चेतन पूर्वी का सृष्टि कहने से अचेतन पूर्वी का सृष्टि जो चाहे बौद्ध मानता है चाहे सांख्य मानता है योग मानता है मूल प्रकृति जो प्रधान नाम से प्रसिद्ध है उसी को तो मानते ना वो वो जड़ है अचेतन है उसी जगत उत्पत्ति माना उसको ही भी आवर्तन कर उसका खंडन करने के लिए ही वह यथार्थ के बारे में जानने के लिए एक प्रश्न पूछा गया था सोलह कला वाला जो पुरुष के बराबर के द्वारा अतः उससे कथन करना चाहते हैं कि चेतन पूर्वी का ही सृष्टि होती है यही पदार्थ प्रकट करने के लिए पुरुष षोड़श कल हो यो भारद्वाजी न जो भारद्वाज के द्वारा पूछा गया प्रश्न इसलिए पूछा गया था और वही स्पष्ट हो गया यहाँ पर तो प्रहलाद जी ने जवाब दे दिया तुम जो पूछ रहे हो वास्तविक चेतन के बिना हो नहीं सकता अरे चेतन ही तुम हो स इच्छा चक्र ईक्षण दर्शन चक्र कृतवान उसने विचार किया चिंतन किया मनन किया सृष्टि फल क्रमादि विषयम वही किस विषय में विचार किया चिंतन किया सृष्टि के क्रफल सृष्टि का क्रम इत्यादि विषय का चिंतन किया कथम इत्युचते कैसा चिंतन किया चिंतन आरंभ कैसे हुआ उसके मन में ये आया कस्मिन कर्त विशेष है देहाद उत्क्रांत उत्क्रांत भविष्यामी ऐसा वह कौन कर्ता विशेष है इस शरीर के भीतर जिसके चले जाने के बाद हमें भी जहां से चले जाना पड़ता है उस चेतनता का अनुभव नहीं रह जाता किसके यहाँ से चले जाने के बाद जो मैं अपने आप को पुरुष रूपेण आत्मा रूपेण चेतन रूपेण शरीर के अंदर अनुभव कर रहा हूँ वह मैं मैं इस शरीर में नहीं रह सकूंगा ऐसा कौन सा तत्व है तो प्राण कहेंगे एवं कस्मिन व शरीर प्रतिष्ठित है ऐसा कौन है प्रतिष्ठा करने वाला जो कर्ता विशेष जिसकी स्थिति के कारण से मैं भी शरीर के अंदर प्रतिष्ठा प्रतिष्ठित प्रस्तुत हो मैं भी शरीर के प्रस्तुत रह सकूंगा काफी शास्त्रार्थ करेंगे कहेंगे देखो भाई ललो आत्मा अकर्ता है सांख्य दर्शन सबसे पहले आत्मा क्या है करता है नहीं भोगता जरूर है और प्रदान ही प्रदान करता है भोगता नहीं यही विवाद है क्या वास्तव में कर्तृत्व और भोक्तृत्व भिन्न वस्तु है नहीं विषय बन जाता है उन्होंने जो भी वस्तु माना उन्होंने का भोक्तृत्व चेतन का धर्म माना और कर्तृत्व जड़ का धर्म मान लिया क्या कर्तृत्व बिना चेतन का जड़ धर्म हो सकता है और भोक्तृत्व क्या बिना जड़ का चेतन में स्वतः आ सकता है यह उन्होंने विचार किए बिना ही दोनों का स्वतंत्र वस्तु मान करके कल्पना कर दी है इसलिए चाहता पुरुषार्थम प्रयोजन उर्वीकृत्य प्रदान प्रवर्तते महदात्याकारेणा तो सृष्टि का चिंतन करने लगेंगे तो कहते कि भया में ये मालूम होता है पुरुषार्थ रूपी प्रयोजन को देखते हुए उसको निमित्त बना करके यह प्रदान निरंतर प्रवृत्त होता है महदार्य आकार परिणत तत्म अनुपन्नम इसलिए आपकी ये जो श्रुति कह रही है यह अनुपन्न है श्रुति ने तो कह दिया कि पुरुष चेतन ने जो है विचार कर संकल्प कर रहा है वही जो सृष्टि को निर्माण कर रहा है चेतन पूर्विका सृष्टि है ऐसा कथन करने वाली आपकी यह श्रुति उचित नहीं है तथा जब ऐसा निश्चय हमने कर लिया है इदम यदुक्त श्रुतिया तत् अनुपन्नम पुरुष से स्वातंत्र इच्छा पूर्ण कर्तृत्व वचनम क्या कहा था श्रुति ने इस पुरुष के अंदर स्वतंत्रता पूर्वक इच्छा करके उसके अंदर कर्तृत्व जो सृष्टि की कर्तृत्व आपने जो कल्पना करने वाली कथन करने वाली जो वचन है इधम वचना अनुपन्नम क्यों सत्ताधिगुण साम्य प्रधान प्रमाण उपन्न सृष्टि कर्तृति क्योंकि जो है सत्वादि गुण साम्य वाला जो प्रधान जो कि प्रमाण से उपन्न है प्रमाणोपन्ने अजामे काम लोहित शुक्त कृष्णाम इसे श्रुति प्रमाण ले लेना प्रमाण से एक श्रुति को काटने वाली दूसरी श्रुति को ले आओ तो स्पष्ट कह रहा है वो है श्रुति इसलिए यह श्रुति गौण करो उस श्रुति को प्रधान कर दो वही कहते इसलिए प्रमाण अपन्ने सृष्टिकर्तृ सती इधम वचन अनुपन्नम पूर्वान्वयम जब ऐसा एक प्रधान नाम का वस्तु सृष्टि का कर्ता करके अन्य श्रुतियों के द्वारा जब प्रमाणों से सिद्ध है उसके रहते हुए यह जो वचन अभी आपने कहा है स्वच्छान चक्र चेतन पूर्व का सृष्टि का कथन करने वाली ये श्रुति आरोपन माननी चाहिए अथवा नहीं एक लोग खड़ा हो जाएंगे कहीं हम तो परमाणु से सृष्टि मानते चेतन पूर्वी का सृष्टि है लेकिन चेतन स्वयं सृष्टि को नहीं करता चेतन केवल प्रेरणा देता है क्या ईश्वर है ना ईश्वर बस संकल्प करता है प्रमाण खट से दो मिल जाएंगे दो हो जाएंगे तीन जन खप मिल जाएगा प्रसन्न बन जाएगा ऐसे करते सारा जगह संकल्प से होते जाएगा और करता कुछ नहीं वही कह रहे हैं ईश्वर शुभा शुभ शु सत्य स्वात्मी एक कर्तृत्व सावना भावाद आत्मन आत्मनि अनर्थ कर्तृत्व दूसरी बात यह है कि ईश्वरानुवर्ती शुभा परमाणुषो सत्सु ईश्वर की इच्छा का अनुवर्तन करने वाले परमाणुओं के रहते हुए आप कैसे कहते हो चेतन पूर्विका सृष्टि है परमाणु पूर्विका सृष्टि है वो भी ही है नहीं चेतन से प्रेरित होना जरूरी इतना ही फर्क है दोनों ही जड़ पूर्वी का सृष्टि का कथन कर रहे हैं चाहे नहीं है हो चाहे सांख्य हो लेकिन सांख्य में वह जड़ स्वतंत्र है सृष्टि का निर्माण करने में किंतु नैयायिकों में वह परमाणु और जड़ स्वतंत्र नहीं है ईश्वर इच्छा का अनुवर्तन करता हुआ जड़ परमाणु सृष्टि परिणत होते जाते हैं लेकिन है दोनों में जड़ पूर्विका सृष्टि जड़ कारण का सृष्टि ही है चेतन कारण सृष्टि नहीं है एक में चेतन की अपेक्षा है नहीं जड़ अत्यंत स्वतंत्र है और दूसरे में चेतन की इच्छा का अनुवर्तन करने की अपेक्षा है जिसके अधीन होकर परमाणु कार्य करते हैं और तीसरी बात हम हाँ, वेदांति के साथ चलूंगा तो भी विचार देते तो उचित नहीं बनता क्योंकि आत्मा के अपनी अनर्थ के लिए सारा संसार को बनाएगा क्यों बनाएगा सर आपने कहा आत्मा जो चेतन संसार को बनाएगा वो सृष्टि का करता है क्यों सृष्टि क्यों बना बना के क्या लाभ हुआ उल्टा फंसा बंधन में आ गया दुखी है अब मुक्ति के लिए परेशान हो रहा है क्यों ऐसा आत्मा इतना मूर्ख थोड़ी है कि ऐसे कार्य को पैदा कर दो स्वयं जाकर फंस जाए उसमें ये भी नहीं हो सकता है और तीसरी बात आत्मा तो एक है तरह से बना देगा दूसरा हो तो ना जिसे उससे कुछ बना दे वो अपने से भिन्न कोई साधन हो उन साधनों को लेकर वो सृष्टि को बना सकता है जब एक में अद्वितीय आपका आत्मा है वो साधन रहित है तो सृष्टि बनाई नहीं इसलिए आत्मनोपी एक आत्मा क्या है एक होने के नाते दूसरा तो है ही नहीं जो कर्म हो करण हो अधिकरण हो ये सब होगा तब में कर्तृत्व आएगा आत्मा में कर्तृत्व मानने के लिए वो स्व से भिन्न कोई कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण वगैरह चाहिए ना अन्य कारक कर्तृत्व जो है अन्य कारकों की अपेक्षा है ना स्वतंत्र करता अन्य सभी कारक हैं स्वतंत्र नहीं है और कर्तिकारक कारक स्वतंत्र इसे अन्य कारकों की अपेक्षा में जो स्वातंत्र क्रिया करने में जो स्वतंत्रता रहेगी जिस तत्व में उस वस्तु को हम कर्ता ये संज्ञा दिए हुए हैं क्रिया करने के लिए अन्य वस्तु निरपेक्ष होकर के जो स्वतंत्रता वाला होगा उस वस्तु को हम कर्ता करते इसलिए आगत तो रथो गति व्यवहार हो जाएगा कोई आपत्ति नहीं है नहीं कर्तृत्व मान लिया प्रतिभा क्वेश्चन कर देते इसी क्योंकि स्वातंत्र क्रिया करने में स्वातंत्र क्या कि आपकी विवक्षा के अधीन है ना कर्तृत्व तो संज्ञा इसलिए आत्मा में कर्तृत्व संज्ञा करनी है आपको पहले अन्य को बताना पड़े ये कर्म है ये कारण है ये संप्रदान है ये अपादान है ये अधिकरण है ये सब कारक है इन कारकों को जैसे कोई एक क्रिया करने में कर्ता की अपेक्षा होती है वैसे कर्ता क्रिया करने में अतः स्वातंत्र के नाते आत्मा करता है ऐसे कहने के लिए आप अन्य कारक दिखाने पड़ेंगे अर्थात द्वैत में यह बात संभव है विवेक में अद्वितीय आत्मा है तो दूसरा कोई कारक ही नहीं है तो उस आत्मा में कर्तृत्व भी नहीं आ सकता वही कहते हैं आत्मपेक कर्तृत्व साधना भावा क्यों साधन ही नहीं है और दूसरी बात आत्मना आत्मनीय व अनर्थ कर्तृत्व अनुपत्ति आत्मा ने आत्मा में ही सर उत्पन्न कर लिया और अनेक प्रकार का दुख पा रहा है ऐसे अनर्थ का अनर्थ कर्तृत्व आत्मा में ला भी नहीं सकते स्वयं जाल में चले स्वयं फंस गए और जाल से निकालने के लिए दूसरे से प्रार्थना करो और दूसरा भी आपके द्वारा कल्पित है जैसे स्वप्न में सब आपकी कल्पनाएं जो आपने वहां जाल बिछाए वो भी आपकी कल्पना थी उसे फंसे आप भी फंसे हैं तो वो भी आपकी कल्पना है फंसना भी और फंसे भी अपने आप को छुड़ा हुए दूसरे को बोल रहे हो दूसरा कौन है वो भी आपके द्वारा कल्पित है ना स्वप्न में जितने भी होते हैं सब आपसे ही कल्पित है लेकिन फिर भी वह व्यवहार सब होता है ऐसा अनर्थ कल्पना क्यों किया आपने अज्ञान से तो किया क्योंकि आप परिचन्न भाव में हो लेकिन वो जो विशुद्ध आत्मा था शुद्ध ब्रह्म था उसमें कौन सी अज्ञान आ गई थी या माया आ गई थी कि वो अपने अनर्थ के लिए सारा संसार को बना रहा है इसलिए आत्मा ने कर्तृत्व और तार कर्तृत्व अनर्थकारी सृष्टि का निर्माण ये तो बिल्कुल ही असंभव है पूर्व पक्षी कहता है नहीं चेतरावान बुद्धिपूर्वक कार्यात्मरो अनर्थं क्योंकि संसार में देखा गया जो चेतना वाला पुरुष है वह बुद्धि पूर्वक ऐसा कोई कार्य जो कि स्वयं को अनर्थ प्रदान करे ऐसे कार्य को करता ही नहीं नहीं कुरिया आप पुरुषार्थे न प्रयोजन इच्छा पूर्वक इव नियत क्रमण प्रवर्तमान चेतन प्रदान चेतन बुद्ध उपचार वयम इच्छा चक्र इत्यादि इसलिए इस मंत्र में स ये जो कहा जा रहा है पुलिंग कहा दिया लगता है आत्मा है पुरुष है इन स्व या औपचारिक है स सबसे प्रधान ही लेना चाहिए प्रपक्ष कह रहा है पुरुषार्थ ना प्रयोजन पुरुषार्थ में प्रयोजन के लिए इच्छा पूर्वकम इव जैसे इच्छा होता हो चेतन में क्योंकि इच्छा चक्र की आदत चेतन कर्तृत्व ले रहे हो ना अब वो कहते हैं उसको युवा कर दो इक्षणम युवा इच्छा पूर्वकम युवा नियत क्रम परिवर्तमान क्योंकि वो सृष्टि को बताने जाना निरंतर पाया करते नियत क्रम से प्रवर्तमान अचेतने प्रदाने अचेतन प्रदान में या क्या होया चेतन वत उपचार उस प्रधान में चेतन के समान औपचारिक प्रयोग इस श्रुति ने किया है कौन सा श्रुति जैसे राजा के सकल कामों को करने वाला वो भी न करे भृत्य मंत्री संतरी कोई भी होगा उसी को राजा है व्यवहार हो जाता है कई बार होता है ये किसका गाड़ी है मंत्री जी का गाड़ी है और बैठे अंदर कौन है मंत्री जी नहीं है कोई और बैठे हैं लेकिन अब उसको टैक्स नहीं लगेगा ना टोल ट्राई देनी पड़ेगी कुछ नहीं देना पड़ता क्यों मंत्री जी का गाड़ी है जा रही है चाहे कोई भी हो उसके अंदर व्यवहार रहता है